और निर्बल नहीं होता है इधर का अफ्रीकन लोग अमेरिकन लोग निर्बल नहीं होता मुस्लिम निर्बल नहीं होता इंडियन इंडियन निर्बल क्यों क्यों કાકા